नमस्कार मित्रों ये वीडियो अलग अलग कानून गलत कानूनों से और अच्छे कानूनों के अभाव से किस प्रकार से लोगों को लूटा जाता है वो एक्सप्लेन करने के लिए है मैं बहुत सारे एग्जांपल दूंगा जैसे 400 498 ए उसके द्वारा कैसे लोगों को लूटा जाता है लोकल बॉडी टैक्स जो कि अभी महाराष्ट्र में चल रहा है पूना में बंबई में महाराष्ट्र के सारे शहरों में उसके द्वारा कैसे लूटते हैं ज्वेलरी पे कस्टम ड्यूटी डालिए दवाइयों के पेटेंट का कानून पास किया 2004 में बहुत सारे मैं इस तरह के सात आठ दस एग्जाम्पल दूंगा इसमें एक कॉमन चीज क्या देखने मिलेगी आपको कि आजकल जो राजवर्ग है वो कैसे लूट रहा है एक कोई एक ऐसा कानून नहीं है जिसके द्वारा वो 100 परसेंट लोगों को लूटे वरना वो एक्सपोज हो जाएगा 100 परसेंट उसके सामने एक हो जाएंगे कानून बदलना पड़ेगा सरकार बदल जाएगी इसलिए आज तरीका क्या है कि एक कानून बनाया जिससे वो 2 परसेंट लोगों को लूटते हैं तो बाकी 98 परसेंट को पता नहीं लगता क्योंकि वो खुद पर्सनल विक्टिम नहीं है जैसे चार का कानून है उससे एक दो परसेंट लोगों को लूटा दूसरा सोने पे और ज्वेलरी पे कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी और वो सब डाल दिया उससे एक दो परसेंट लोगों को लूट लिया जो ज्वेलर्स बिजनेस में है एक्साइज का कानून है तो उससे किसको लूटेंगे जो आदमी फैक्ट्रियां चला रहा है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कानून है तो उससे किससे एक दो परसेंट लोगों को लूटेंगे कि जो फैक्ट्रियां चला रहे हैं तो इस तरह से ऐसे पचास साठ सत्तर अस्सी नब्बे कानून है हर एक कानून से वो एक परसेंट दो परसेंट आधा परसेंट तीन परसेंट लोगों को लूटते हैं और इस तरह से उनका धंधा चलता है और इसमें कॉमन बात आपको एक दिखने मिलेगी कि ये सब क्यों हो रहा है कि ये राजवर्ग जो है वो प्रजाधीन नहीं है मतलब सत्याश प्रकाश आप देखोगे इसका मैं करीब करीब हर एक वीडियो में मेंशन करता हूं क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है 1870 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ये पुस्तक लिखी थी इसके छठे चैप्टर में राज धर्म छठा चैप्टर छठे चैप्टर में लिखा है मैं पढ़ के सुनाता हूं कि राजा और प्रजा दोनों प्रजाधीन होने चाहिए राजा और सभा राजा और सभा दोनों प्रजाधीन होने चाहिए सभा यानी पार्लियामेंट राजा यानी राजा राजवर्ग एग्जीक्यूटिव वो सब आ गया और यदि प्रजा से स्वतंत्र राजवर्ग रहेगा तो वो प्रजा का नाश करेंगे ये दूसरे श्लोक में लिखेंगे और कैसे नाश करेंगे उसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल मतलब उपमा दी है कि जैसे मांसाहारी पशु छोटे पशु को खा जाते हैं वैसे यह राजवर्ग जो प्रजाधीन नहीं है वो राजवर्ग प्रजा को लूट लेगा कैसे लूटेगा श्रीमान को लूट खूंच अन्याय से दंड देके अपना प्रयोजन पूरा करेगा अपना प्रयोजन पूरा करेगा यानी उसको करोड़ों को जो रुपए कमाने वो कमाएगा और अन्याय खूसट से दंड करके ये खास लिखा है यानी कि जो राजवर्ग प्रजाधीन नहीं है वो ऐसे ऐसे ऊट पटांग कानून बनाएगा कि उसमें अच्छा भला आदमी भी चपेट में आ जाएगा दूसरों की गलती से उसकी बात का बतंगड़ यानी उससे थोड़ी टेक्निकल गलती हुई होगी सीधी 100, 200, 300 परसेंट पेनल्टी लग जाएगी उसकी कोई गलती नहीं है लेकिन सामने वाले को कंप्लेन करने का मौका मिल गया तो कंप्लेन उसकी सामने वाले की कंप्लेन का बात का कर करके उसको जेल में डाल दिया या उसके इंक्वायरी डाल दी या उसको परेशान करना शुरू किया तो इस तरह से वो लोग इस तरह से राजवर्ग है वो पैसा ऐठेगा तो ये एग्जाम्पल क्लियर करने के लिए मैं कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स दूंगा एक है 498 का कानून जिसे दहेज वाला कानून कहते हैं दहेज वाला कानून सांसदों ने क्यों बनाया सांसदों को कोई पैसा नहीं मिलता लेकिन सांसद देखते हैं कि भाई जो एमएलए आईपीएस है वो हमारे भाई बंधु ही है उनको थोड़ा पैसा कमा देते हैं तो चार में क्या है कि यदि कोई विवाहित स्त्री वाइफ है वो एक कंप्लेन करती है सिर्फ एक कंप्लेन एक लाइन की कंप्लेन उसे पुलिस स्टेशन में जाने पर करनी है कि भाई मेरा पति या मेरा देयर या मेरा जेठ या मेरे सास या ससुर या ननद मुझे दहेज के लिए दहेज शब्द इस्तेमाल करना जरूरी है दहेज के लिए परेशान कर रहे हैं और कानून और उससे जो एसोसिएटेड जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के वो ये है कि वो कंप्लेन आई तो कोई सबूत की जरूरत नहीं है कोई गवाह की जरूरत नहीं है अब इंस्पेक्टर ने यदि इन लोगों को अरेस्ट नहीं किया तो इंस्पेक्टर की नौकरी जाएगी तो इंस्पेक्टर को तो अपनी नौकरी बचानी है तो वो तो अरेस्ट करने चला जाएगा अब उसको कष्ट पहुंचा पुलिस स्टेशन से निकलना पड़ा जीप में बैठना पड़ा जीप वहां तक ले जानी पड़ेगी तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी तो वो उसका मुआवजा भी मांगेगा इसलिए जितने भी 498 केस के स्टडी किए उसमें मैंने देखा कि इंस्पेक्टर को जैसे ही कंप्लेन मिलती है वो सीधा चला जाता है जाके जैसी आदमी की कैपेसिटी गरीब आदमी है तो उससे पांच दस हजार बैठेगा अमीर आदमी है तो मैंने पांच पांच लाख के केस भी सुने कि एनआरआई आदमी था इंस्पेक्टर ने पांच लाख उससे वसूले अरेस्ट न करने के लिए यानी एक हफ्ते का दो हफ्ते का टाइम दिया क्योंकि इंस्पेक्टर की नौकरी जाएगी यदि वो दो हफ्ते में अरेस्ट नहीं करता है तो तो इंस्पेक्टर सीधा पहुंच गया उसके घर पे पांच लाख वसूले और बोला कि भाई मैं तेरे को हफ्ते दो हफ्ते का टाइम देता हूं यदि तेरे को कोर्ट से ये वारंट ये बेल मिल जाती है उसको एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं यदि तुझे एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है तेरी किस्मत अच्छी है तो मैं तुझे अरेस्ट नहीं करूंगा वरना मैं तुझे अरेस्ट करके लॉकअप में डाल दूंगा अब पुलिस को 5000 10000 जैसी कैपेसिटी 2 लाख 5 लाख दो उसके बाद जज को पैसा दो क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल है वो आसानी से नहीं मिलती हिंदुस्तान एकमात्र देश है जिसमें छह महीने के बच्चे को एंटीसिपेटरी बेल मिली है मैं कोई मजाक नहीं कर रहा ये रियल केस है इंडिया में छह महीने के लड़के को एंटीसिपेटरी बेल कैसे मिली कि जो बहुत ही उसका वो आ, मतलब उस, उनके माता पिता ने को उसके जो हस्बैंड का फादर था उसने कोई दूसरी शादी की थी और उससे लड़का हुआ था यानी टेक्निकली वो देर हुआ छोटा उसका देर हुआ देवर हुआ और देवर की उम्र सिर्फ छह आठ महीना ही थी तो वाइफ ने कहा कि ये देवर मुझे दहेज के लिए परेशान कर रहा है तो इंस्पेक्टर को उसके नाम का वारंट निकालना पड़ा तो उसके नाम का फिर एंटीसिपेटरी बेल लेना पड़ा ताकि पुलिस उसको अरेस्ट ना करे अब ये सारे उठपटांग चीजें क्यों आ रही है तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने खुद एडमिट किया कि इस कानून का बड़े पैमाने पे मिसयूज हो रहा है लेकिन सुप्रीम कोर्ट जज ने कहा कि मैं इस कानून को एंटी कॉन्स्टिट्यूशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहूंगा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून कैसे है कि आदमी को गिल्ट प्रूव होने के बाद उसकी सजा शुरू हो जाती है सजा कैसे शुरू हो गई कि उसको लॉकअप में डाल दिया जब तक बेल नहीं मिले और जज भी बेल देने से घबराता है क्योंकि 498 का, का केस ऐसा है कि इसमें एज्यूम करना पड़ता है कि वो गिल्टी है जब तक कि वो इनोसेंट प्रूव ना हो यानी डेट पे डेट पड़ती जाए और यदि वाइफ कोर्ट में ही ना आए तो भी जज उसको आसानी से बेल नहीं दे सकता तो जब एंटीसिपेटरी बेल लेनी होती हो तो वहां जज को पैसा दो अब सुप्रीम कोर्ट के वकील भी इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके वॉइड क्यों नहीं करते क्योंकि वो देखते हैं कि वकील इससे करोड़ों रुपया कमा रहे हैं और बहुत सारे वकील उनके रिश्तेदार हैं यदि ये 498 ए का कानून निकल गया तो पुलिस की हर एक पुलिस स्टेशन है ऑन एन एवरेज भारत का एक साल में कम से कम दो तीन करोड़ कानून रुपये इस कानून से कमा रहा है हर एक अदालत है उसके वकील है वो इस कानून से दो तीन करोड़ रुपया कमा रहे हैं अब ये कानून निकल गया तो पुलिस की दो तीन करोड़ की कमाई बंद हो जाएगी वकीलों की दो तीन करोड़ की कमाई बंद हो जाएगी इसलिए इस कानून को चालू रखा जा रहा है यानी सत्यार प्रकाश का जो श्लोक है वो कितना सच्चा साबित हो रहा है कि राजा प्रजाधीन नहीं हुआ जो हमारे राजवर्ग है वो प्रजाधीन नहीं है क्योंकि हमारे पास उनको नौकरी से निकालने का पावर नहीं है न हम पी को नौकरी से निकाल सकते हैं न कमिश्नर को नौकरी से निकाल सकते हैं न एमपी एमएलए को नौकरी से निकाल सकते हैं न जज को नौकरी से निकाल सकते हैं तो अन्याय खुसर से दंड करके वो प्रजा को लूटेगा अन्याय खुसर से यानी चार का कानून बना दिया अब कहीं ना कोई तो कोई गलत आदमी कोई होगा ही कि जिसको हो कि भाई दहेज के लिए जरा भी परेशान नहीं किया कोई दूसरा ही झगड़ा है जिसमें हो सकता है उसकी गलती हो हो सकता है उसकी गलती न भी हो उसने कंप्लेन कर दी अब पूरा खानदान जेल में जब तक कि बेल ना मिले तो पुलिस को दो हफ्ता अरेस्ट न करने का पांच दस पचास हजार दो और बाद में एंटीसिपेटरी बेल के लिए पांच दस पचास हजार दो और बाद में कोर्ट के धक्के खाओगे तो वकील को पैसा देना पड़ेगा वो अलग इसी तरह का एक दूसरा कानून आया है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्योंकि 498 ए में क्या हुआ अंत में सुप्रीम कोर्ट को एक जजमेंट देना पड़ेगा जज, जजमेंट देना पड़ा कि सात साल शादी के सात साल के बाद यह एक्ट अप्लाई नहीं होगा तो कोई बात नहीं दूसरा एक्ट बना दिया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वो 40 साल के बाद भी एक्ट अप्लाई होता है उसमें इतना ही कहना होता है कि मुझे डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा के नाम पे प्रताड़ित किया जा रहा है यदि शादी को सात साल नहीं हुए तो दहेज का वाला कानून का इस्तेमाल करके जेल में बंद करवा सकते हो यदि शादी के सात साल हो गए तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में इंक्लूड कर सकते हो तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में तो और भी कर दिया कि हस्बैंड का घर छीन के वो वाइफ को दिया जा सकता है तो अभी दिल्ली में हर हफ्ते 10-20 लोग अपना घर कमा रहे और उसमें एक ही चीज होती है कि जिस ऑफिसर के पास पावर है प्रोटेक्शन ऑफिसर कहते हैं वो आके देखता है कि घर की कीमत क्या है देखता है कि घर की कीमत एक करोड़ है तो हस्बैंड को सीधा बोलता है कि भाई एक लाख दो वरना मैं ऑर्डर निकालूंगा कि घर घर में से आप बाहर निकलो और ये घर आपकी वाइफ का वह टेम्पररी परमानेंटली नहीं हो जाता पर जब तक कि केस का पूरा निपटारा नहीं होता तब तक हस्बैंड वहां पे नहीं रह सकता और वाइफ को वो पोजीशन देना पड़ेगा तो इसके द्वारा प्रोटेक्शन ऑफिसर है एक तहसील में एक प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है कुछ कुछ छोटे तहसील है वहां दो तीन तहसील मिला के एक प्रोटेक्शन ऑफिसर है और प्रोटेक्शन ऑफिसर गवर्नमेंट कैडर का आदमी होना जरूरी नहीं है बाहर के आदमी चीफ मिनिस्टर किसी भी आदमी को अपने यार दोस्त रिश्तेदार को प्रोटेक्शन ऑफिसर बना सकता है तो एक एक प्रोटेक्शन ऑफिसर है आजकल इंडिया में एक एक करोड़ कमा रहा है इसी से महीने महीने के और यही कि उल्ट उल्ट पटांग कानून बना दिए जिसके द्वारा आदमी 100 परसेंट इनोसेंट हो हो सकता है उसकी जरा भी गलती नहीं हो गलती सिर्फ सामने वाले की है उसने सामने वाले ने केस कर दिया अब वो उसकी अब उससे पैसा इतना शुरू कर दिया तीसरा कानून मैं एग्जांपल दूंगा वो है लोकल बॉडी टैक्स जो कि अभी महाराष्ट्र में उसके ऊपर ये आंदोलन वगैरह चल रहे हैं म्यूनिसिपालिटी को पैसा चाहिए वो तो ठीक है उनको गटर खोदनी है सड़क बनानी है तो पैसा चाहिए तो महाराष्ट्र के व्यापारियों ने कहा कि भाई हम 12 परसेंट वैट दे रहे हैं 12 का 14 परसेंट कर लो और जो 2 परसेंट वैट एक्स्ट्रा आया राज्य सरकार के खाते में वो राज्य सरकार म्यूनिसिपालिटी को दे दे उनको जो भी कैलकुलेशन ठीक लगता है आबादी के हिसाब से या तो बैकवर्डनेस के हिसाब से जो भी उनको कैलकुलेशन लगाना है व्यापारी यहां तक तैयार हो गया कि भाई 2 परसेंट का 2.5 परसेंट करना है 3 परसेंट करना है लेकिन जो मुख्यमंत्री है चौहान उसने बोला नहीं एक अलग डिपार्टमेंट होगा पूरा हर एक म्यूनिसपालिटी का और उसको अलग रिटर्न भेजना पड़ेगा और मतलब एक पैरेलल टैक्सेशन अथॉरिटी खड़ी कर दी एलबीटी के नाम पे लोकल बॉडी टैक्स के यानी आप वैट वाले को भी पैसा दो वो तो देना ही देना इंस्पेक्टर जो सेल्स टैक्स का इंस्पेक्टर आएगा वैट का इंस्पेक्टर आएगा साथ में लोकल बॉडी टैक्स वाला भी आएगा अब लोकल बॉडी टैक्स का मैंने पूरा डिटेल में स्टडी नहीं किया पर मुझे ऐसा लगा कि ये कानून है वो बड़ी कंपनियों को फेवर करता है छोटी कंपनियों को नुकसान में डाल देगा कैसे कि बड़ी कंपनी के पास तो ऑलरेडी फुल टाइम स्टाफ है धक्के खाने के लिए सरकार के जो क्वेरी आएगी उसका जवाब देने के लिए फॉर्म भरने के लिए सब कुछ लेकिन कोई अकेला आदमी है या दो तीन परिवार में एक दो लोग हैं जो कि बिजनेस कर रहे हैं उनके पास टाइम नहीं है कि गाड़ी चुंगी नाके पे गाड़ी रोक दी अब वो गाड़ी को छुड़ाने के लिए चुंगी नाके पे जाए तो वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे उनका धंधा काफी फंस जाएगा एक और मैंने इसमें नोट किया जो कि मुझे वेरीफाई करना है अभी कि मान लो चार छोटे मैन्युफैक्चरर हैं एक पुणे में एक बंबई में एक औरंगाबाद में एक नासिक में ए ने माल बनाया उसने बी को बेचा और वो चारों अलग अलग शहर में तो दो परसेंट लोकल बॉडी टैक्स वहां लगेगा बी ने सी को बेचा तो दो परसेंट एलबीटी वहां लगा सी ने डी को बेचा तो दो परसेंट एलबीटी वहां लगा तो उनके प्रोडक्ट की कॉस्ट सीधी छह आठ परसेंट बढ़ गई अब मान लो कोई बड़ी कंपनी सब कुछ एक ही छत के नीचे कर रही है तो उसको एलबीटी लगेगा सिर्फ दो परसेंट क्योंकि वो सामान एक शहर से दूसरे शहर से तीसरे शहर नहीं भेज रही तो ऑटोमेटिकली उसके प्रोडक्ट की कॉस्ट मार्केट में चार पांच छह परसेंट कम हो गई तो अब जहां पे मार्जिन दो तीन परसेंट पे चलता बहुत सारे बिजनेस है वहां दो तीन परसेंट का ही मार्जिन बचा है वो सारे व्यापारी फाइनेंशियली खत्म कैसे हो जाएंगे कि उनके प्रोडक्ट का भाव सीधा छह आठ परसेंट बन गया और उनकी जो झंझट है उनका जो टाइम जाता है वो इसमें घंटों के घंटों बर्बाद हो गए और जब व्यापारी कह रहे हैं कि भाई वैट यदि दो परसेंट बढ़ा मतलब एलबीटी से जितना पैसा मिल सकता है उतना पैसा आप वैट में ऐड करके ले जाओ तो हम उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री कह रहे नहीं एक नई टैक्सेशन अथॉरिटी होगी यानी नए झमेले नए फॉर्म भरो फिर से अपने घंटों बर्बाद करो और ऑफिसरों को एक एक ऑफिसर को रिश्वत देके मनाए आप दूसरा ऑफिसर आके खड़ा हो जाएगा उसको भी रिश्वत दो और वो प्रॉब्लम भी इसीलिए हो रही है क्योंकि चीफ मिनिस्टर जो है वो प्रजाधीन नहीं है प्रजाधीन कैसे नहीं है कि प्रजा के पास उसको नौकरी से निकालने का पावर नहीं है इसलिए वो सर पे चढ़ गया और भी मैं एग्जांपल देता हूं अभी जो ज्वेलर्स का मैं प्रॉब्लम स्टडी कर रहा था तो उनपे सरकार ने गोल्ड पे जो कस्टम ड्यूटी थी एक दो परसेंट की थी वो बढ़ा के कुछ चार परसेंट या छह परसेंट जितनी कर दी छह परसेंट जितनी कर दी तो जाहिर है स्मगलिंग होगा और किस तरह से होगा जो सेंटर में जो बड़े मिनिस्टर है उनके आदमी स्मगलर बनेंगे जो भी जैसे ये रेल मंत्री था अभी उसको रिटायर किया तो हो सकता है वो स्मगलिंग का धंधा खोल देगा साइड में कुछ ना कुछ तो धंधा करना ही पड़ेगा पहले वो रेल में पैसा बटोरता था अब कोई डिपार्टमेंट नहीं है तो और उसकी मंत्रियों से जान पहचान है कस्टम वालों से सीबीआई वालों से सबसे तो फाइनेंस मिनिस्टर जो कस्टम का चीफ ऑफिसर है उसको फोन करके बोलेगा कि ये जहाज आएगा और आसपास किसी कस्टम वाले को खड़ा मत रखना तो कोई कस्टम वाला वहां पे पूछेगा नहीं जहाज में से जितना भी सोना आ रहा है तो तो ऑटोमेटिकली इससे जो जेन्यून ट्रेडर है जो कि सोना लाता था दो परसेंट बाकायदा ड्यूटी देता था और कंट्री में लाता था उसका धंधा खत्म हो गया क्योंकि उसको अब छह परसेंट ड्यूटी देनी पड़ेगी और स्मगलर है वो तो बिना ड्यूटी के ला रहा है तो वो तीन परसेंट ड्यूटी के हिसाब से यानी ड्यूटी तो वो दे ही रहा पर सौ रुपए का सोना है स्मगलर वो एक सौ तीन रुपए में बेचेगा और जो जो ऑनेस्ट बिजनेसमैन है वो सौ रुपए का सोना 106 में बेचेगा तो कौन ऑनेस्ट बिजनेसमैन का सोना खरीदने जाएगा तो इसी तरह से वो धंधा खत्म हो गया फिर ज्वेलर पे कानून क्या बनाया कि उसको कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ेगी तो अधिकतर सोना आजकल क्या हो रहा है बाहर से आ रहा है क्योंकि इंडिया में तो सोने की डिमांड ज्यादा है तो जो ज्वेलरी एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो किस तरह से चलता है कि सोना उनको बाहर से लाना पड़ता है दुबई या किसी कंट्री से लाते हैं फिर उससे वो ज्वेलरी बनाते हैं और फिर वो एक्सपोर्ट करते हैं तो अब ये 6 परसेंट की ड्यूटी वो एस e वालों को नहीं भरनी है और यदि पर एस e के लिए मिनिस्टर का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए आ, किसी बहुत बड़े डिपार्टमेंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तभी वो एस e में उसको एंट्री मिलेगी और उसको वॉल्यूम भी चाहिए यदि वो छोटा ज्वेलर है कि साल में सिर्फ दो तीन करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहा है दो तीन करोड़ ज्वेलरी में बहुत मामूली रकम हुई क्योंकि दो तीन करोड़ पे प्रॉफिट मुश्किल से होगा उनका तीन पर, दो परसेंट प्रॉफिट मैक्सिमम होता है तो दो करोड़ का उसका टर्नओवर है तो साल का चार लाख प्रॉफिट हुआ तो चार लाख कमाने वाला आदमी कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हुआ तो उसका यदि वॉल्यूम सिर्फ दस पंद्रह करोड़ का है तो वो ऐसी जेड e में घुस भी नहीं पाएगा क्योंकि वहां पर रेंट बहुत ज्यादा है तो वो पहले क्या करता था कि वो दो परसेंट कस्टम ड्यूटी देता था फिर ज्वेलरी बनाता था और एक्सपोर्ट करता था अब उसने एक्सपोर्ट किया तो उसने कस्टम का पैसा भरा वो उसको वापस मिलेगा पर वापस लेने में दो दो तीन तीन साल दस साल निकल जाते हैं धक्के खाओ रिश्वत दो उसके बावजूद भी दो दो तीन साल कस्टम का रिबेट नहीं मिलता तो एसीजेड वालों को सीधा फायदा कैसे हो गया कि वो गोल्ड लेके आएगा उसको ड्यूटी भरनी ही नहीं है और उससे वो ज्वेलरी बनाएगा एक्सपोर्ट करेगा जबकि जो एस के बाहर बैठा है वो इस धंधे में से खत्म हो गया क्योंकि अब उसको 6 परसेंट पहले ड्यूटी भरनी पड़ेगी उसके बाद वो एक्सपोर्ट करेगा बाद में वो 6 परसेंट लेने जाएगा तो 5 साल तक उसको कस्टम रिबेट मिलेगा नहीं तो इस तरह से जो ज्वेलरी एक्सपोर्ट बिजनेस था वो सारा एस वालों ने दबेल लिया और इसमें से जो छोटे व्यापारी थे, छोटे कारीगर थे, सोनी वगैरह, वो निकल गए। और इसी तरह से कैसे वो धंधा खत्म किया, कॉर्नरिंग द बिजनेस कैसे वो धंधा पूरा कॉर्नर किया, यही उल्ट पटांग कानून बना के 6% कस्टम ड्यूटी डाल के, फिर और भी एक दूसरा वीडियो टेप है मैंने जिसमें एक्सप्लेन किया है कि अब यदि कैश से गहने खरीदे जाएंगे तो एक परसेंट टीडीएस काटना पड़ेगा, यानी उसको टीडीएस भरने जाना पड़ेगा, बैंक में टाइम से उसका इनकम टैक्स नंबर रिपोर्ट करना पड़ेगा मतलब उतने सारे उसके झंझट डाल दिए कि अब वो बिल ही नहीं बनाएगा तो जिस आदमी को बिल चाहिए वो ऑटोमेटिकली बड़े डिपार्टमेंट स्टोर में ज्वेलरी खरीदने जाएगा फिर किस तरह से कानून बना के लूटा जाता है 2004 में उस समय 2005 में 2005 में कांग्रेस के और कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद मिलकर सरकार चला रहे थे तो कहने के लिए ये लोग गरीबों के आदमी हैं ये कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद पर उन्होंने कानून क्या बनाया पेटेंट का कानून बनाया मेडिसिन का जो कि वाजपेयी ने वाजपेयी ने पहला स्टेप लिया था ईयर 2000 में और सेकंड स्टेप लिया मनमोहन सिंह और कम्युनिस्ट की सरकार ने 2005 में यानी दोनों बराबर के जिम्मेदार है और उसकी वजह से दवाइयों के दाम जो पेटेंटेबल ड्रग्स है उनके दाम दस बीस पचास गुना हो गए कुछ कुछ के पचास गुना हो गए लिटरली पचास गुना हो गए क्योंकि पहले क्या था कि कोई नई दवाई खोजी गई है तो उसमें सिर्फ प्रोसेस पेटेंट मिलता था प्रोडक्ट पेटेंट नहीं मिलता था तो प्रोसेस में थोड़ा बहुत चेंज कर दो कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है 25 का 24 कर दो या 23 कर दो या 26 कर दो या उसमें आ, तीन घंटा कूलिंग है तो तीन घंटे के बजाय साढ़े तीन घंटे कूलिंग कर दो तो प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज हो गया यानी प्रोसेस पेटेंट है वो बाईपास हो गया तो उसकी वजह से जो दवाइयाँ खोजी जाती थी पश्चिम में वो तीन चार महीने में भारत की कंपनियां उसका उत्पादन शुरू कर देती थी लेकिन 2005 में जो पेटेंट का कानून आया उसकी वजह से वो बंद हो गया तो पश्चिम की कंपनियों ने सीधे जो 500 हजार की दवाइयां थी उसके दाम बढ़ा के हजार दो हजार दस हजार पंद्रह पंद्रह हजार जितने ले गए तो अब हरेक में आप देखो दो दो परसेंट आदमी लूट रहे हैं 498 में ऐसा नहीं है कि हरेक परिवार में ये प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम आती दो तीन परसेंट लोगों की जिंदगी में या हर एक मैरिज है उसमें कहीं लीगल प्रॉब्लम नहीं आते दो तीन परसेंट मैरिज में लीगल प्रॉब्लम आती है लेकिन जिसमें लीगल प्रॉब्लम आ गए वो पूरा का पूरा लूट गया जज उसको लूट लेगा इंस्पेक्टर उसको लूट लेगा उस दो वो जो दो परसेंट इस 498 की चपेट में आ गए पुलिस और जज मिलके और वकील मिलके उसको पूरा का पूरा लूट लेंगे ये लोकल बॉडी टैक्स है तो इससे जितने भी व्यापारी है मतलब पूरी पॉपुलेशन में दो तीन परसेंट लोग होंगे जो कि एलबीटी के चपेट में आएंगे और उनकी उनसे जो उनकी इनकम है उन, उनका चार पांच परसेंट उनसे लूट लेंगे कस्टम ड्यूटी में बताऊं तो जिससे ज्वेलरों को बहुत बड़ा नुकसान गया पर ज्वेलर कुल आबादी का कितना परसेंट एक परसेंट शायद डेढ़ परसेंट उनसे उनसे सारे एफिलिएटेड बिजनेस भी कारीगर वगैरह भी देख लो तो तो ये ज्वेलरी का जो कानून है उससे आधा एक परसेंट लोगों को लूटा ये दवाइयों का कानून है जिससे मैंने बताया तो सारी दवाइयों के दाम बीस गुने नहीं हुए कुछ एक दवाइयों के दाम बीस गुने हुए तो इससे उन्होंने चार पांच परसेंट लोगों को लूट लिया कि जिनको उस दवाई की जरूरत पड़ी वो पेटेंट का कानून नहीं आता था वो दवाई उसे हजार रुपए में मिल जाती है अभी पेटेंट का कानून है तो उसको दवाई के दस पंद्रह हजार देने पड़ रहे हैं तो उसके दस पंद्रह हजार लूट लिए गए फिर एक्साइज का कानून है एक्साइज में क्या होता है ये कानून किसको टच करता है जो फैक्ट्रियां चला रहे हैं तो कितने परसेंट लोग फैक्ट्री चलाते हैं हंड्रेड परसेंट तो नहीं चलाते सौ करोड़ के देश में दस पंद्रह लाख दस लाख लोग होंगे जो फैक्ट्रियां चलाते हैं और एक्साइज के नेट में आते हैं और लेकिन वो दस लाख लोग हैं वो फिर करोड़ों को एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं तो लेकिन लूट लूटेंगे सिर्फ वो दस लाख लोगों को लेकिन अब वो दस लाख लोगों को लूटेंगे तो वो लूट को बाकी लोगों पर पास ऑन ही करना पड़ेगा उनको तो एक्साइज वाले कैसे लूटते हैं कि उनके पास पावर है कि फैक्ट्री बंद करा दें तो जाके फैक्ट्री में पहुंच जाएंगे उनके बुक्स देखेंगे बुक्स में कहीं भी एक छोटी सी टेक्निकल मिस्टेक भी मिली उनको तो सीधा बोलेंगे कि तुमने एक्साइज की चोरी की है लाख रुपए की पेनल्टी दो लाख की पेनल्टी दस लाख की पेनल्टी और फैक्ट्री बंद करवा देंगे यदि पेनल्टी नहीं भरी तो और इस तरह से फिर बाद में बोलेंगे कि भाई कितना रिश्वत देनी है तेरे को दस हजार बीस हजार पचास हजार उसने पचास हजार की रिश्वत देगा उसकी पेनल्टी दस लाख के से कम करके पंद्रह बीस हजार कर देंगे तो इस तरह से एक्साइज के द्वारा पूरी पॉपुलेशन के एक दो परसेंट लोगों को लूटा जाता है लेकिन वो बहुत बड़ी लूट है एक्साइज डिपार्टमेंट है वो पुलिस से ज्यादा पैसा ऐंठता है अक्सर हम बोलते हैं कि पुलिस बहुत करप्ट है क्योंकि पुलिस का करप्शन हमें दिखता है लेकिन पुलिस है वो काफी कम करप्ट है सरकार के अंदर पुलिस को गरीब आदमी बोला जाता है क्योंकि करप्शन के हिसाब से पुलिस का नंबर बहुत पीछे आता है सबसे ऊपर नंबर आता है सुप्रीम कोर्ट के जज का फिर हाई कोर्ट के जज का फिर मंत्रियों का मंत्री और हाई कोर्ट के जज बराबर के लेवल के होते हैं जिसकी जितनी पहुंच जिसकी जितना पावर फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर फिर स्टेट गवर्नमेंट में फिर गवर्नमेंट के अंदर सबसे ऊपर आता है रेवेन्यू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और उसमें सबसे इनकम टैक्स में भी सबसे ऊपर आता है ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो कि फॉरेन करेंसी से डील करता है सबसे ज्यादा वहां पे रिश्वतखोरी होती है फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिर लैंड डिपार्टमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट बोलते हैं जिसको जो कि जमीन से डीलिंग करता है उसके बाद आता है कस्टम्स का फिर एक्साइज का नंबर आता है पुलिस का कहीं पंद्रहवा बीसवा नंबर भी नहीं आता सारे डिपार्टमेंट मैच करो तो तो एक्साइज वाले हैं वो सीधा फैक्ट्री के मालिक को लूटते हैं और फैक्ट्री का मालिक है उसको फिर वो लूट है वो पास ऑन करनी पड़ती है फिर इसी तरह से फैक्ट्री को फैक्ट्री का जो मालिक है उसको लूटने के लिए पूरी जमात है पूरी बारात है सरकार के अंदर एक्साइज है प्रोविडेंट फंड वाले हैं लेबर इंस्पेक्टर है कस्टम वाले हैं फिर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वो मैं अलग से डिस्कस करूंगा क्योंकि आजकल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो सबसे ज़्यादा मतलब गुंडागर्दी में वो नंबर वन माना जाता है गुंडागर्दी और लूटपाट में वो नंबर वन माना जाता है फिर ये आ, एक्साइज ऑक्ट्रॉय पहले था अभी ऑक्ट्रॉय निकल गया लेकिन अब एलबीटी आ रहा है महाराष्ट्र में सारे राज्यों में एलबीटी नहीं है अकेले महाराष्ट्र में आ रहा है जैसे गुजरात में एलबीटी नहीं है पर पहले ऑक्ट्रॉय वाले भी फैक्ट्री और फैक्ट्री चलाने वालों को लूटने आ जाते थे तो इस तरह से जो फैक्ट्री चलाने वाला आदमी है उसको कुछ पंद्रह तरह से पंद्रह अलग अलग अफसरों उसको लूटने आते हैं और उसको लूट का हिस्सा उसकी कमाई का हिस्सा देना पड़ता है इसलिए ऑटोमेटिकली फिर वो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा देता है और आ, आ, या तो वर्कर को कम सैलरी देगा या तो माल पे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा देगा और फिर वो इनएफिशिएंसी वो पास ऑन हो जाती है और पैसे के साथ साथ उसकी जिंदगी का टाइम और खून टाइम और आ, चैन उसकी नींद खराब हो जाती है उसका टाइम इतना बर्बाद हो जाता है और उसकी रात की नींद हराम हो जाती है जिसकी वजह से ओवरऑल उसकी प्रोडक्टिविटी और काम करने की इच्छा खत्म हो जाती है उसकी इनोवेशन करने की ताकत कम हो जाती है मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि चाइना में फैक्ट्री चलाते हैं तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे रिश्वतखोरी है तो उन्होंने कहा रिश्वतखोरी है पर बहुत ही स्ट्रीमलाइन है कैसे कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाला वहां पे है आके दो तरह के लॉ देगा कि ये कानून कागज पे है हमने पास कर दिए हैं लोगों को दिखाने के लिए और ये लॉ तुमको एक्चुअली फॉलो करना है यदि वो लॉ एक्चुअली फॉलो नहीं किया तो आके वो फैक्ट्री बंद करा देगा वहां पे रिश्वतखोरी उस मामले पे नहीं होगी पर वो आके देखेगा यदि वो लॉ फॉलो किए तो एक रुपया लिए बिना चला जाएगा फिर हर महीने में उसको एक इनवॉइस आएगा वहां की कम्युनिस्ट पार्टी की ऑफिस से चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की ऑफिस से साफ पता लग जाएगा कि कुछ वो देने नहीं वाले वो सिर्फ पैसा लेने आया उसको चेक से पैसा दे दो और वो पैसा सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में बढ़ जाएगा और किसी अफसर की खातिरदारी नहीं करनी पड़ती यहाँ पे जो फैक्ट्री चलाने वाला है उसको खातिरदारी करनी पड़ती है कि एक एक्साइज इंस्पेक्टर है वो फोन करके बोलेगा कि भाई मेरा जो कमिश्नर है मेरा जो बॉस उसके फैमिली मेंबर आ रहे हैं उनको घूमना है गाड़ी भेजो तो फैक्ट्री वाले को अपनी एक या गाड़ी या टैक्सी करके भेजनी पड़ेगी साथ में एक आदमी भेजना पड़ेगा और फैमिली में चार पांच लोग हैं तो दो गाड़ी भेजनी पड़ेगी बड़ी गाड़ी भेजनी पड़ेगी इतना ही नहीं वो जो कमिश्नर के फैमिली मेंबर है वो घूमेंगे तो उनको रेस्टोरेंट का खर्चा मूवी का खर्चा वो भी उसके फैक्ट्री के मालिक के पीआरओ को देना पड़ेगा सब कुछ यानी खातिरदारी में अब पीआरओ क्या करेगा कि मान लो बीस हजार का खर्चा हुआ तो पीआरओ वो पच्चीस हजार का तीस हजार का बिल बना के देगा दस हजार वो खा जाएगा तो जो मेरे दोस्त थे चाइना में उन्होंने बोला कि खातिरदारी यहाँ पे जीरो है तुम्हारा 100-200 करोड़ का बिजनेस हो कब तक कब तक जाके मेयर लेवल के आदमी को आ, मिनिस्टर लेवल के आदमी की खातिरदारी करनी पड़ती है बाकी जो मिडिल लेवल ऑफिसर है जूनियर लेवल ऑफिसर है उनको कोई खातिरदारी नहीं कर पड़ती इंडिविजुअल अफसर को परेशान नहीं करता इंडिविजुअल ऑफिसर को पैसा भी नहीं देना पड़ता एक अफसर को चेक से रिश्वत दे दी और वो रिश्वत उनका जो भी इक्वेशन होगा उसके हिसाब से वो बराबर बांट लेते और अमेरिका में ये भी नहीं है अमेरिका क्यों चीन से आगे है क्योंकि अमेरिका में इस तरह की एक रिश्वत का हफ्ता भी नहीं देना पड़ता यूरोप में इस ये स्वीडन है नॉर्वे है वहां पे एक रिश्वत का हफ्ता भी नहीं देना पड़ा तो वो देश आज चाइना से भी बहुत ज्यादा आगे लेकिन चाइना हमसे क्यों आगे है क्योंकि हमारे यहाँ जो फैक्ट्री चलाने वाला है उसको पंद्रह अफसर अफसर आके परेशान करते उससे पैसा हटते और उससे खातिरदारी करवाते हैं उसका टाइम बर्बाद करते हैं उसकी नींद हराम करते हैं चाइना में ना उसकी नींद हराम करते हैं ना उसका टाइम बर्बाद करते हैं सिर्फ उसका जो प्रॉफिट उसको देख लेते हैं कि भाई इस आदमी ने इतना पैसा कमाया है उसका चार पांच परसेंट आके उससे रिश्वत के तौर पे छीन लेते हैं एसीजेड एसीजेड e e से कैसे लूटा जाता है एसीजेड e के कानून से एसीजेड में आप एक्सपोर्ट कर रहे हो आप एक नॉर्मल छोटे मोटे इंडस्ट्रियलिस्ट आपने एक्सपोर्ट किया तो आपको इनकम टैक्स भी भरना है सेल्स टैक्स भी भरना है, स्टैंप ड्यूटी भी भरनी है, इलेक्ट्रिसिटी पे टैक्स भरना है, सारे टैक्स भरने हैं। कस्टम्स, वैट, एलबीटी, ऑक्ट्रॉय, सारे टैक्स आपको भरने हैं दुनिया भर के। मैं वही चीज एक्सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन मेरा बहुत बड़े कॉन्टैक्ट है, या मेरा टर्न बहुत ज्यादा है, किसी मिनिस्टर से या सेक्रेटरी से, तो मैंने एसीजेड e में जगह खरीद ली, या मेरे पास ही कोई जमीन है, 100-200 एकड़ की, उसी पे मैंने एसीजेड e बनवा दिया। या तो 10-20 एकड़ की जमीन है तो आसपास के लोगों से जमीन के मैंने छीन के या खरीद के मैंने एसईजेड e बनवा दिया अब मैं एसईजेड e में जो एक्सपोर्ट करूंगा ना मुझे उस पर कस्टम भरना है ना मुझे इनकम टैक्स भरना है ना मुझे सेल्स टैक्स भरना है ना मुझे ऑक्ट्रॉय भरना है ना इलेक्ट्रिसिटी पर मुझे टैक्स नहीं आएगा या कम आएगा उसके अंदर जो जो खरीद वगैरह होगी उस पर सेल्स टैक्स नहीं लगेगा और अधिकतर लेबर लॉ भी अप्लाई नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली मेरा जो एक्सपोर्ट है वो सस्ता पड़ेगा तुम्हारा एक्सपोर्ट है वो महंगा हो गया यानी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे हाथ से निकल गई और मेरे हाथ में आ गई यानी तुमको लूटा किस तरह से तुम्हारी दुकान पे आके तुमसे पैसा नहीं उठा लेकिन एसी जड़ का कानून बना के तुम्हारा जो धंधा था वो पूरा का पूरा धंधा अब मेरे हाथ में आ गया देखो ये लूट है वो थोड़ी अलग तरीके से है जो छोटे लोग है चोर उचक के बदमाश जो कि छुरी दिखा के लूटते हैं इस तरह का नहीं है एक कोई गुंडा होगा वो क्या हो गया आपकी दुकान में आपके फैक्ट्री में घुस गया आपको तमंचा दिखाया बंदूक दिखाई और आपका जो कैश रजिस्टर उसमें दो पांच हजार ले गया ये एसीजेड e की लूट अलग तरह की है कोई आदमी आपकी दुकान पे नहीं आया को किसी आदमी ने आपको छुरी नहीं दिखाई लेकिन आपका जो एक्सपोर्ट का बिजनेस था वो सारा का एक्सपो, सारा एक्सपोर्ट एक कानून की कलम से एसीजेड e के मालिक के पास आ गया फिर आरटीओ की लूट ट्रैफिक पुलिस की लूट तो आप देखते ही हो आपकी गलती हो या ना गलती हो जो भी वैलिड रीजन या इनवैलिड रीजन से गाड़ी रोकी अब पूछेंगे कि ये सर्टिफिकेट दो ये सर्टिफिकेट दो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और आरसी बुक और आ, हर तरह के डॉक्यूमेंट मांगे और एक डॉक्यूमेंट भी नहीं हुआ तो अब बोलेंगे कि भाई अब 100 200 500 रुपए देने पड़ेंगे और सारे डॉक्यूमेंट हुए तो भी तुम्हारा टाइम बर्बाद करेंगे पंद्रह बीस मिनट बर्बाद कर देंगे उसके बाद जाने देंगे अब तुमको बीस मिनट बर्बाद नहीं होने देने तो पचास दस दस बीस पचास रुपए देने पड़ेंगे जैसी जैसा लोकेशन और जैसी आपकी गाड़ी आपको पुराने स्कूटर पे जा रहे हो तो शायद 20, 25, 50 रुपए में छोड़ देगा और यदि महंगी गाड़ी में जा रहे हो तो 100, 200, 500 रुपए मांगेगा तो इसमें भी क्या है कि जो पुलिस अफसर है उसको पावर दिया गया है कि ड्राइवर ने गलती की हो या ना की हो उसको रोकने का पावर है जो कि अमेरिका में नहीं है अमेरिका में लाइसेंस रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस वो कब मांग सकता है कि गाड़ी चलाने वाले ने कोई गलती की और उसको रोका रोका तो ही मांग सकता है वरना नहीं मांग सकता और वो तीन चीजें हैं तो फिर वो तीन ही चीजें रखनी होती है यहाँ पे कई कई जगह पे महाराष्ट्र में मैंने देखा छह सर्टिफिकेट उसको रखने पड़ते हैं पता नहीं क्या क्या कि उसने टैक्स भरा या नहीं वो सर्टिफिकेट उसको रखना पड़ता है तो अब इस तरह से उसको जो आरटीओ के ऊटपटांग कानून है उसके द्वारा ट्रैफिक पुलिस को लोगों को लूटने का मौका मिल गया और जो मैंने आपको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एग्जांपल दिया वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में दूंगा कि उनके पास इतने वाइड पावर है कि एक सेकंड के अंदर वो फैक्ट्री बंद करा सकते हैं और उनका बहुत सीधा हिसाब है कि 50 फैक्ट्री लाइन में है तो 50 फैक्ट्रियों को बोल देंगे कि जितना गंदा पानी नाले में फेंकना है फेंको बस इतना हफ्ता देना है उनको जितना जहरीला गैस हवा में फेंकना है फेंको अब आप फैक्ट्री के मालिक हो मान लो आप कानून के मुताबिक काम करना चाहते हो तो पानी को फिल्टर करोगे हवा में से पहले पॉल्यूटेंट निकालोगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी मान लो किसी आइटम की प्रोडक्शन कॉस्ट सौ रुपया है और बाजार में वो 103, 104 में बिक रही है मैन्युफैक्चरिंग में हर एक चीज में मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं होता कुछ कुछ में मार्जिन दो तीन परसेंट ही होता है आपने सारे कानून फॉलो किए पानी को फिल्टर किया हवा में से सारे पॉल्यूटेंट निकाले तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ के 105 रुपए हो गई तो मार्केट में टिक नहीं पाओगे यदि पॉल्यूशन का लॉ सब पे अप्लाई हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्यों क्योंकि सबका फिर प्रोडक्शन कॉस्ट 105 रुपया हो गया आपका भी 105 रुपया होगा बाजू वाले का भी 105 रुपया होगा वो भी 107 में बेचेगा आप भी 107 में बेचोगे आपका भी धंधा चलेगा वो उसका भी चलेगा लेकिन वो लॉ फॉलो नहीं कर रहा तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट 100 हो गया तो अब वो 103 में माल बेचेगा तो आपका 107 का माल कोई खरीदने नहीं आएगा तो आपको भी लॉ ब्रेक करना ही पड़ेगा या तो फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी तो उसको रिश्वत देनी पड़ेगी क्योंकि आप लॉ ब्रेक कर रहे हो और जिस दिन उसको परेशान करना है किसी भी वजह से कि मान लो किसी मिनिस्टर से आपका झगड़ा हो गया या कोई आ, कि भाई इसके अब मुझे इस आदमी से पैसा नहीं लेना है इसकी मुझे फैक्ट्री बंद करानी है तो उस दिन वो कानून दिखा के दिखाने आ जाएगा कि भाई आप गंदा पानी नाले में फेंक रहे हो तो कि भाई वो तो मैं दस साल से फेंक रहा हूँ और उसका तुझे हफ्ता भी दे रहा हूँ नहीं पर आज तुमने कानून का भंग क्यों किया तो कि भाई ये ये आप इंडस्ट्रियल एरिया देख रहे हो उसमें सारे लोग सौ लोग है वो सौ, सौ के जो कानून का भंग कर रहे हैं तो कि वो बात छोड़ो वो सौ लोग क्या कर रहे हैं वो तुम्हें नहीं देखना है तुमने ये कानून का भंग क्यों किया और वो तुम्हारी फैक्ट्री बंद करा देगा यानी इससे जो पावर आई उनके पास वो क्या है कि आदमी की पूरी जिंदगी खत्म करने की पावर आ गई वो कानून को यदि यूनिफॉर्मली अप्लाई करते तो एक भी आदमी गंदे में ना, गंदा पानी नहीं फेंकता नाले में तो किसी भी फैक्ट्री को परेशान करने का उनका मौका नहीं मिलता किसी की जिंदगी हराम करने का उनको मौका नहीं मिलता लेकिन उन्होंने हर एक को छूट दे रखी है कि आप जितना गंदा पानी नाले में फेंकना है नदी में फेंकना है फेंको अब वो छूट के द्वारा जिस आदमी को अब की जिंदगी खत्म करनी है उसको जिंदगी खत्म करने का पावर उसके हाथ में आ गया अब इस सारी चीजों का बेसिक तो जड़ यही है कि राजा यानी राजवर्ग यानी अफसर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का हो या पुलिस कमिश्नर हो या मिनिस्टर हो एमपी हो जज हो हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट का जज लोअर वो प्रजाधीन नहीं है यानी राजा यदि प्रजाधीन नहीं है तो प्रजा को लूट लेगा और अलग अलग मैंने तुमको आपको मैंने अलग अलग आपको लूट के एग्जाम्पल दिए पर उसके बेस में यही है कि राजा प्रजाधीन नहीं है राजा प्रजाधीन कैसे कर सकते हैं उसका मैंने अलग अलग वीडियो टेप में बताया right to recall police commissioner right to recall Supreme Court जज right to recall pollution control board officer etcetera और वो वीडियो में आप देख सकते हैं धन्यवाद